विदा के न सन मान निषादो चल उषिदय बड़ बिरह विषादो कोल किरात धिल बन चारे फेरे फिरे जोहारी जोहारी प्रभु सिय लखन बैठ बैठ छाहे प्रिय परिजन वियोग भील खाहे भरत सनेह सुभाव सुबाने प्रियायनुज सन कहत बखानी फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था फिर राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे प्रीति प्रतीति बचन मन करने मुख राम प्रेम बस बरनी तही तही अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलिना विबुध बिलोके दसारघुबर के बरसी सुमन कहे गति घर घर की प्रभु प्रणाम करे दिन भरोसो चले मुदित मन डर न खरो श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया उस समय पसी पक्षी पशु और जल की मछलियाँ चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया तब वे प्रसन्न होकर चले मन में जरा सा भी डर न रहा जैसे सबेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों मुनि महिषुर गुर भरत राम बिरह सबु साजो बिहारो प्रभु गणत मन माहे चुप चाप चले मग मगाहे उतरी पार सब भय सोबासरु बिनु भोजन गय उतरी देव सरी दूसर बासु राम सखा सब किन्ह सुपासु मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल हैं प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनकुर है पुर बासर चारे राज काज सब साज संभारी सौंपी सचिव गुर भरत हिराजो तेरहुत चले साज सब साजो नगर नारी नर गुर सिख माने बसे सुखे न राम रज धानी फिर उतर उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे जनक जी चार दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब सास समान को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा सास समान ठीक करके तिरहुत को चले नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं